शब्द प्रवृत्ति का निमित्त रूढ़ी है रूढ़ी वही द्रव्य से ले लेना और क्योंकि और जितने भी द्रव्यवाचक शब्द है ज्यादातर अवित्पन्न नहीं होते जैसे गौ है एक द्रव्यवाचक शब्द है इन्हें व्युत्पत्ति क्या करोगे गच्चे दीदी गौ कैसे करोगे जो चले फिरे वो गाय है फिर कुत्ता भी गाय हो जाएगा आदमी भी गाय हो जाएगा तो वित्पत्ति नहीं देखी जाती है रूढ़ी होता है इसे द्रव्यवाचक अधिकतर वित्पत्ति पक्ष को न मानकर अवित्पन्न पक्ष ही माना गया है इसे रूढ़ी शब्द के द्रव्य को ले लीजिए जाति क्रिया और गुण ये पांच चीजें ये पांचों शब्द की प्रवृत्ति के निमित्तों में माना गया इन निमित्तों में से कोई भी निमित्त इसके अंदर नहीं हो सकता किसमें ब्रह्म आत्मा के लिए शब्द अनविधेयतम इसलिए तस्या मैंने ब्रह्मण आत्मा शब्द अनविधेयतम इसलिए आत्मा शब्द के द्वारा अविधेय नहीं है आगे आ रहा है आनंद गिरी टीका बताऊंगा सर एक एक को भी निषेध कैसे बताएंगे विस्तार से तो भाष्य तो सूत्रबद्ध बोल दिए हैं इसकी व्याख्या स्वयं भाषकर करेंगे तो समय आएगा साथ विशेष प्रतिषेध नहीं हुआ तो इसलिए विशेष प्रतिषेध के द्वारा ही तुरी का निर्देश करना चाहती है श्रुति शून्य में वरिदा गुरु पक्ष कहता है फिर तो वह आत्मा शून्य ही है ये मिथ्यामयी विकल्प जो है इसका निमित्त क्या रह जाएगा फिर मिथ्या विकल्प से निर्निमित्व अनुपत्य है हमने अनधिष्ठान अनुपत्य है ये मिथ्या विकल्प में अनुभव में आ रहा है ये क्या निर्दिष्ठान अनुभव में आ रहा है बिना अधिष्ठान का ये मिथ्या विकल्प में ये जगत जो दृश्यमान है यह दृश्यमान परिदृश्यमान है जगत का दर्शन ही नहीं हो सकता है कोई ना कोई अधिष्ठान मानना ही होगा अधिक शून्य नहीं कह सकते आप शून्य में फिर निरधिष्ठान हो जाएगा और असंभव है अतएव आपको कुछ न कुछ मानना ही पड़ेगा नहीं रजत सर्प पुरुष मृग तृष्टिकारिक विकल्प शुक्ति शुक्ति का रज्जु स्थानु ऊशिरादि व्यतिरेकेण अवस्थास्पद शक्या कल्पित शुक्ति का के बिना रजत जो कि कैसा है अवस्तु रूपा जो रजत है उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते बिना शुक्ति शुक्तिका के बिना आप रजत की परिकल्पना नहीं कर सकते रज्जु के बिना सर्व की परिकल्पना नहीं हो सकती स्थानों के बिना या पुरुष का परिकल्पना नहीं ऊषर भूमि के बिना मृग तृष्ण का आदि विकल्पों की कल्पना आप कर नहीं सकते क्यों वो सब कहते हैं अवस्थास्पदा अवस्तु रूपा है अतएव उनका अधिष्ठान की कल्पना असंभव है एवं तरी यही सब युक्तियां इन युक्तियों को ही ध्यान में रखने का है एवं तरी प्राणादि सर्विकल्पास्पद तुरीय शब्दवाचितमिति तो अगर अच्छा है अधिष्ठान ब्रह्म शब्द की प्रवृत्ति हो सकती है कि नहीं हो सकती आपने कैसे कहा कोई प्रवृत्ति निमित्त नहीं शब्द प्रवृत्ति ही नहीं हो सकता आपकी भाषा में निकल गया आपने जवाब में कह दिया अधिष्ठान मैं ब्रह्म को मारूंगा इस अधिष्ठान ब्रह्म हो गया कि नहीं हो गया इसलिए ब्रह्मा अधिष्ठान सिद्ध हो जाएगा दृश्य शब्द वाचवा ब्रह्म शब्द वाच्यम अधिष्ठान यही साथ दिया प्राणादि सर्व विकल्प तुरीय से शब्द वाच्यम ये जो तुरीय है आपका है ब्रह्म ये क्या है शब्द वाच्य है क्यों प्राणादि सर्व विकल्प सर्व विकल्पों का आश्रय अधिष्ठान हेतु दिया इति इसलिए प्रतिशील ही प्रत्यायत्व उदकाधार घटादे न शब्द न प्रतिशील प्रत्याय इसे प्रतिशील वाक्यों के द्वारा उसको बोध कराने की कोई जरूरत नहीं है विधि मुख से कह दो जगत ब्रह्म सीधा बोल दो सीधा सीधा कहो क्यों कहते हो कि नेति नेति ये सब क्यों ला रहे अस्तुल मननु अग्राह्यम अनिंद्रियम ये सब बोलने क्या जरूरत है सीधे बोलो जड़ अधिष्ठान इसे न प्रतिशील प्रत्ययत्म इसका दृष्टान क्या है अधिष्ठानता के लिए कहे उदका धैर्य घटा दे जैसे उदकादियों होगा अधिष्ठान घटादी की व्याख्या हो सकती है इसे जगत ब्रह्म की व्याख्या भी हो सकती है शब्द प्रवृत्ति होगा अगर शब्द वाच्यता उसके अंदर सिद्ध हो गया पूर्व पक्ष कहता है तो सिद्धांत कहते ये नहीं हो सकता हम आपसे पूछना चाहेंगे वो जो अधिष्ठान आप कह रहे हो वो प्रातिवासिक अधिष्ठान तो है या पारमार्थिक अधिष्ठान तो लाना चाह रहे हो ब्रह्म में ब्रह्म में जो अधिष्ठान तो है जगत दृष्टिया जगत अधिष्ठान तो अपने जो मारा वह अधिष्ठान तो प्रातिवासिक है कि पारमार्थिक प्रातिवासिक तो कोई लफड़ा नहीं नहीं हमसे आपसे कोई झगड़ा नहीं कि ब्रह्म में वास्तविक अधिष्ठान तो रहा नहीं जब वास्तविक अधिष्ठान तो वास्तविक शब्द वाचता नहीं रहा प्रातिपद तो शब्द वाच्यता था भाई हम कहा मना कर रहे इधर उधर शब्दों से तो लक्षित कर ही रहा हूं वास्तविक और तात्विक वो नहीं हो सकता दोनों ही क्यों नहीं देखो पहला पक्ष क्यों निषेध हो रहा है क्योंकि तात्विक वाच्यत्व साधकत्वाद क्योंकि जो हमने दृष्टान दिया है ना उस दृष्टान से तात्विक का दृष्टान तो सिद्ध नहीं हो सकता दृष्टान क्या है घट को दिया किसके प्रति जलाधार के प्रति जल का अधिष्ठान तो घट सदा हो ये कोई जरूरी नहीं है आप कहीं भी गढ़ा देखेंगे क्या चल अधिष्ठान तो नहीं देखोगे भाई चने के अधिष्ठान रूप में भी देखा है किसी चना भर के रख दिया किसी नमक भर के रख दिया किसी मिर्ची भर के रख दिया किसी कुछ भर के रखा घड़े में क्या क्या भर के रखते हैं तो जलाधिष्ठान तो नहीं वास्तविक घट में अधिष्ठान तो आ सकता है क्या फिर कैसा हम अधिष्ठान तो मान लेंगे आपके अधिष्ठान के हर पर पर और प्रातिभाषिक कहोगे ये भी नहीं हो सकता की जलाधिष्ठान तो भी वास्तव में देखा हमने तो है नहीं की जलाधिष्ठान कहीं होता ही नहीं जलिष्ठान रूपेण भी मैंने देखा है और अन्य अधिष्ठान रूप में भी मैंने देखा है इसे जलाधिष्ठात्व तो प्रातिभाषिक ये भी नहीं कर सकते और जलाधिष्ठात्व तो अप्रातिभाषिक भी नहीं कर सकते दृष्टान के आधार पर प्रातिभाषिक दृष्टान तो सिद्ध नहीं हो सकता कि प्रातिभाषिक वो है ना कि कहीं मिले ही नहीं रज्जु कभी सर्प होता ही नहीं होता कभी संसार में लेकिन घट कभी जलाधिष्ठान ही नहीं होगा ऐसा तो कभी नहीं देखा बल्कि जलाधिष्ठान होता हुआ देखा है अतएव जो दृष्टान्त है वो प्रातिभाषिक अधिष्ठान का नहीं है किंतु व्यविचारी तत्व के अधिष्ठान का है दृष्टान्त क्या आपने दिया है व्यविचारी तत्व के अधिष्ठान को दिया प्रातिभाषिक भी नहीं है तात्विक भी नहीं है किंतु व्यविचारी तत्व के अधिष्ठान का दृष्टान्त आपने दिया है और जो विचारित तात्विक दृष्टान्त होगा वो भी माइकी होगा अतएव प्रातिभाषिक सिद्ध हो सकता न तात्विक सिद्ध हो सकता अधिष्ठान न द्वितीय अतात्विक तो वाच्य प्रक्रम न विरुद्धेता और ये अतात्विक मान ही रहे हो तो इसलिए लड़ाई नहीं है अतात्विक वाच्यता स्वीकार करना चाह रहे हैं आप अधिष्ठान किसी भी रूप में अतात्विक वाच्यता स्वीकार करके ब्रह्म में तो हमारा आपके मत से कोई विरोध नहीं है और वास्तविक की मानूंगा ये नहीं हो सकता अशुक्त है कल्पित रजदार्य अवस्तुव अवस्तुवत अवस्तुवत तुरीय भी कल्पित प्राण अवस्तुत्वा तत्प्रतियोगिक अधिष्ठान तात्विक योगादि दूषित न प्राणादि तो दूसरे पक्ष को ही भाष्य कर ले मूल रूप में उठाया तात्विक अधिष्ठान तो करना चाहो कि नहीं हो सकता जिस प्रकार का शुक्ति का अधिष्ठान शुक्ति जो है रजत के प्रति अधिष्ठान है उसी प्रकार का अधिष्ठान मानना पड़ेगा जगत के प्रति ब्रह्म में और वो जो अधिष्ठान है वो तक नहीं हो सकता क्यों असत का सत्य के साथ कदापि संबंध ही नहीं है एक परिकल्पित संबंध को लेकर अधिष्ठान यदि मान रहे हो तो तरह अधिष्ठान भी परिकल्पित ही होगा अतः तात्विक अधिष्ठानता नहीं हो सकता इसको भाष्य का न प्राणादि विकल्प से असत्प्राण ये जो प्राणादि विकल्प क्या है असत्य है शुक्ति कार्य रजतादि इसे शुक्ति कार्य में जैसे रजतादि का आप भ्रांति कर रहे हो उसी रूप से आप ब्रह्म में जगत का भ्रांति कर रहे हो अतएव जो जगत निर्मित अधिष्ठान यथा रजत निरूपित अधिष्ठान शुक्ति में रजत होने के अधिष्ठान जो शुक्ति में आप अनुभव कर रहे हो उसी प्रकार के अधिष्ठान तो आपका जगत निरुद्ध अधिष्ठान तो ब्रह्म में मानना पड़ेगा और वह किस प्रकार का मान रहे हो वास्तविक है क्या नहीं शुक्ति में रजत का जो है वास्तविक अधिष्ठान तो नहीं है दृष्टांत में जैसा आपका दृष्टान क्या था घट जल के प्रति अधिष्ठान वहां तो संयोग संबंध था यहाँ संबंध नहीं हो सकता क्या कारण तष्टि व रूढ़ी रवा जाति रवा क्रिया व गुणो वायति विकल्प प्रथम प्रत्याह पांचों पक्ष खंडन करेंगे शब्द प्रवृत्ति निमित्त भूता ये पांच हो सकते हैं एक तो संबंध दूसरी ष्टी बने संबंध ष्टी का मतलब यहाँ संबंध है दूसरा रूढ़ी तीसरी जाति चौथी क्रिया पांचवी गुण है इन पांचों से कोई नहीं हो सकता क्यों नहीं सदस्य संबंध भाष्य में सत का असत के साथ कदा भी वास्तविक संबंध हो नहीं सकता सहयोग समय तादात्वादी कोई भी नहीं हो सकती शब्द प्रवृत्ति निमित्त भाग अवस्तुत्वा इसीलिए शब्द प्रवृत्ति निमित्तत्व का योग्य आप जो कह रहे हो वो अवास्तविक ही होगा वास्तविक नहीं हो सकता क्यों अवस्तुत्वा वो अधिष्ठानता भी अवस्तु रूप ही कल्पित ही है ना भी प्रमाणांतर विषयत्व स्वरूप गवादिवत्स प्रमाणांतर का विषय तेन मान लो रूढ़ी के लिए रूढ़ी के लिए क्या है शब्द से भले निश्चय नहीं हो ग्रहण वित्पत्ति से ग्रहण नहीं कर सकते शब्द संबंध को लेकर के नहीं हो सकता है लेकिन प्रमाणांतर से हो सकता है जैसे चक्षुषा को बता ये गाय है भले आप रट रखे हो गच्छी गौ हो गमे डो हो प्रत्येक कर दिया हमने आपके रटने से क्या होगा गलती अर्थ निकालोगे तब दूसरा बताएगा नहीं भाई यही इसी का नाम गाय है प्रमाणांतर से रूढ़ी शब्द का शक्ति ग्रह होता है आठ प्रकार बता दिए इसलिए शक्ति ग्रह का है या नहीं उपमान खंड में भी आया वहाँ मुक्तावली में भी आया है सब जगह कई जगह शक्ति ग्रह का आता है हम्म। और इसी प्रकार से यहाँ पर भी करे जैसे और दृष्टान्त है कंडकारी वाला जानते ना कंडकारी का कहानी हो व्याकरण का बेचारा तो उसने कंटक हमारी वैद्य ने कह दिया आप कंटकारी को उबाल करके पीछिएगा तो आपका पेट ठीक हो जाएगा उसने सोचा कंटकारी क्या होता है कंटकाना मरीज कंटकारी कौन है वो मैंने जूता है अब उसने जूते को उबाल के पिया चमड़े का जूते पहले जमाने की उसको पी गया तो और पेट खराब हो गया तो मरना सुने तो वही से लड़ाई होने लगी तो वही तो कहते हैं हमने भाई हमने तुमको कंटकारी करने कहा ऐसे तो कभी हुआ नहीं आज तक तुम बताओ कौन कहाँ से लाए तुम कंटकारी अरे घर में ही था अरे घर में तुम्हारा तो पैदा हुआ बहुत बढ़िया बात है दिखाओ तो दिखाया जूता अरे अरे ये कंटकारी है फिर उसको दिखाया अरे भाई ये जो पौधा होता है जो वो बांध पर खूब है घर पर थोड़े होगा वो जंगलों में होता है जैसे तैसे तो पत्ते वत्ते ऊपर नीचे सारा तरफ कांटे होते हैं उसको तो दिखा रहे ये है हाँ, इसको उबाल के पीने को कहा था मैंने और उसको पिलाया तो स्वस्थ हो गया ये शब्द के प्रवृत्ति के रूढ़ी शब्दों के लिए वित्पत्ति से काम चलता नहीं किंतु अंदर से ग्रहण होता है और यह प्रमाण से ग्रहण भी नहीं होता ब्रह्म के लिए तो प्रमाणांतर विषयत्म स्वरूपेण गवाधिवत न जैसे गो आदि शब्दों का प्रमाणांतर से उसके स्वरूप विषय कर लेते हो वैसे भी आप ब्रह्म को प्रमाणांतर से ग्रहण नहीं कर सकते अनुमान आदि कोई प्रमाण पर्वत हो ही नहीं सकता ऐसी में किसी भी शब्द का वाच्यत्व न शब्द वाच्यत्व न आप उस अनुमान आदि से ब्रह्म को ग्रहण नहीं कर सकते कहते चलो जाओ जाति क्या है पकड़ो कभी वो भी नहीं आत्म निरुपाधिकतात गवाधिवत नाप जाति मतम क्योंकि जो है आत्मा क्या है निरुपाधिक है शुद्ध है वो इसे गोवादि के समान जाति मत भी आप ग्रहण नहीं कर सकते और अगर जाति का लक्षण ही तो नहीं घट रहा है आप जाति का लक्षण क्या करते एकम अनेकानुगतम ये तो कहा नित्य है एक है अनेकों में समवेत है नित्यम एकानुगतम अनेक नित्यम एकानु समवेतम ऐसे भी कहा पाठ मुक्ताने में सुधार किया ना अनुगतम कर गड़बड़ा जाएगा इसे संवेदम कहे इतम एकम संवेदम कभी वो भी नहीं हो सकता क्यों ये तो अद्वितीय अनेक तो हो ही नहीं तो कैसे जाति को ग्रहण करो लक्षण ही तो नहीं जाएगा अद्वितीय सामान्य विशेष अभाव अद्वितीय होने के नाते न तो सामान्य या न विशेष ही है चलो क्या क्या प्रतिभा दौड़ता भक्ता होगा ना कम से कम भ्रम तो दौड़ता हुआ क्रिया के ऊपर भागती हुई क्रिया पर बैठने की क्रिया के ऊपर किसी ने किसी क्रिया के मन से ग्रहण करूंगा ना भी क्रिया होतम पांच का जो जैसे पांच का ही शब्द वाच्यता व्यक्ति के अंदर देवदत्ता आदि में देखते हो वैसे क्रिया निमित्त को कोई भी किसी प्रकार की जो है क्रिया को निमित्त बना करके तब द्वारा शब्द वाच्यता मैं ब्रह्म में लाऊंगा ये भी नहीं हो सकता क्योंकि अभिक्रियवा अंत में रह गया गुण को लेकर के कहो ब्रह्म में कुछ गुण तो होगा का जो निर्गुण निराकार है कहा उसमें होना है वो भी नहीं ना भी गुणवत्तम नीलाधिवत निर्गुणत्वा नीलादि शब्दों की जो प्रवृत्ति नीलादि वस्तुओं जिस प्रकार से गुणत्व हो जाता है वैसे भी ब्रह्म को ऐसा शब्द गुण को निमित्त बना करके व्यवहार नहीं हो सकता नीलाधिवत निर्गुणत्वा अतो नाभिधान निर्देश मरदी इसीलिए शब्द के द्वारा अभिधान मैंने शब्द के द्वारा उस ब्रह्म का निर्देश हो नहीं सकता शश विषाण समत्पात निर्धकत्व कर रही तब पूर्व पक्षी क्या करता है तो शश जो है विषाण आदि के समान हो गया तुम्हारा ब्रह्म निर्धक है कोई प्रयोजन सिद्ध हो सकता है दोस्तों जो झूठी शब्द प्रयोग करते रहो इन सुई शब्द ही नहीं हो सकता है और फिर भी मैं शब्द बोलूंगा वो क्या होगा निर्धक ही होगा शशि विषाण के समान शशि विषाण एक शब्द प्रयोग कर रहा लेकिन वो भी एक पंच प्रकार की प्रवृत्ति निमित्त से एक भी प्रवृत्ति निमित्त मानता नहीं अवस्तुत्व फिर भी हो गया ऐसे ही आपका भ्रम भी है ये जितना परिषद शब्द प्रयोग हो रहे हैं सब निरर्थक हो जाएगा कहते न ऐसा भी नहीं कर सकते हो क्यों आत्मत्व में तुरीय अनाथ तृष्णा व्यावृत्ति उसका आत्म रूपेण में अनुभव स्वीकार कर लेता हूँ ऐसे प्रकार से क्या लाभ होगा कहते भाई बात है उससे अनाथ तृष्णा का जो है व्यावृत्ति होता है इसे नीलम रक्तम कह करके आपने शुक्ति को ग्रहण कर लिया नतीजा क्या हुआ रज संबंधी जो तृष्णा थी वो दूर हो गई इसी प्रकार से नान्त प्रज्ञम न वैष्प्रज्ञम इत्यादि कह करके हम सिर्फ ब्रह्म का जब बोध कराएंगे जो तो जगत विषय जो तृष्णा थी आप जो निवृत्त हो जाएंगे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है इसलिए तुर्य से अनात्म तृष्णा व्यावृत शुक्ति का अवगम इव रजत तृष्णाया इस का बोध होने से रज संबंधी जो तृष्णा निवृत्त हो जाती है उसी प्रकार से निषेध वाक्यों के द्वारा स्वरूपावबोध होने से जगत तृष्णा निवृत्त हो जाती है नहीं तो आत्म तो सती अविद्या दृष्टा दोषा नाम संभव अस्थि क्योंकि को आत्म रूप में जब अनुभव कर लोगे तो अविद्या और तजन जो तृष्णा दोष का होने की कोई संभावना ही नहीं रह जाती न चतुर्य से आत्मत्व तो अनर्ग में कारणम और तुरय को आत्मा नहीं है ऐसा स्वीकार करने में कोई कारण भी नहीं तुर्य को अनात्म रूप मानने में जैसा ये तीन अनात्मा है उसी प्रकार तुरय भी अनात्मा है ऐसा जी कोई कहना चाहे उसके पास कोई कारण नहीं है कोई युक्ति नहीं कोई हेतु नहीं इन तीन को अनात्मा मानने में मेरे पास अनेक युक्तियां हैं वे विचार हो रहा है अनित्य सुखा देख रहे हैं बहुत सारे हेतु है वहां लेकिन दृश्य दृश्यभूता अनित्य विनाशी वस्तु का कोई अधिष्ठान के बिना उनके दर्शन ही नहीं हो सकता उनके अस्तित्व ही नहीं टिक सकता अतएव हमें तुर्य को एक अस्तित्वान मानना ही पड़ेगा उसका ये जो मिथ्या मानने और उसको सत्य मानने वाले से ही प्रमाण है सीधी सी युक्ति है नहीं तो मिथ्या वस्तु निरधिष्ठान हो जाएगा हेतु तो दे देते ना निरधिष्ठान तो आपत्ति है इसीलिए आपको तुरीय वस्तु है मानना पड़ेगा उसको अनात्मा या मिथ्या नहीं मान सकते और उसको अनात्मा या मिथ्या कहना चाहोगे तो हम आपसे पूछेंगे इसमें बताओ क्या युक्ति है क्या कारण है किस आधार पर कह रहे हो और आप कोई कारणों को उपस्थित नहीं कर सकते वही कहते हैं तुरीय से अनात्मत्व अवगमे या आत्मत्व अनवगम तुरी को आत्मा न मानने में या अनात्मा को मानने कहने में बात एक ही है तुरी को आत्मा नहीं मानूंगा फिर क्या मानोगे अनात्मा मानूंगा ये तो बात आएगी ऐसे मानने में कोई कारण नहीं है क्यों तो इसीलिए सर्वोपनिषद पक्षया सारी उपनिषद है उसी तुरी को आत्मत्व रूप ख्यापन करने में ही छीन हो गया कहा ऐसे जी चार उपनिषद में कह दिया लो तत्वसी अयम आत्मा ब्रह्म तत्सत्यम स आत्मा यह साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म सब आयाभ्यंतर आत्म सर्वम इत्यादि नाम इत्यादि सब अलग अलग वेदों का दे दिया चारों वेदों का दे दिया तत्वसी तो सामवेद का हो गया अयम आत्मा ब्रह्म ही अथर्वेद का ही है तत्सत्यम स आत्मा प्रधान्य का है यह साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म ही प्रधान्य का है शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद का हो गया सब आया अभ्यंतर जो आतम सर्वम इत्यादि भी इसी शुक्ल यजुर्वेद का ये सारे के सारे इत्यादि नाम इसे चारों वेदों में दिखा दिया आतत्व ने उस का प्रतिपादन करने के लिए पूरा जोर दिया हुआ है स्वयं आत्मा परमार्थ अपरमार्थ रूप है इसलिए वह आत्मा परमार्थ रूपे त्रुय कह दिया उसको तो आशा परमार्थ भी उसको कहना बेकार है परमार्थ कैसे कहोगे उसको परमाणु शब्द भी वहां प्रवृत्त नहीं हो सकता कोई शब्द प्रवृत्त नहीं हो सकता लेकिन सापेक्ष कथन है ना अपरमार्थ दृष्टि उसको परमार्थ कह दे रहे हैं परमार्थ अपार्थ रूप चतुष्पात इतुक्त ये हमने कह दिया था तस्य अपरमार्थ रूपम अविद्यातम रज्जु सर्पाय समम उक्तम पाद त्रय लक्षण बीजांकुर उन चार पादों में से उस आत्मा के चार पादों में से जो अपरवार रूप है कैसा है वो अविद्याकृत है रज सर्पादि के समान है पाद त्रय उसको बीजांकुर के समान जो वस्तु है उसको हमने पहले कह दिया है और इधानीम अबीजात्मक परमार्थ स्वरूप रजस्थानीय सर्पाधिस्थान योग स्थान त्रय निराकरण आहा अब जो है अबीजात्मक जो है कौन परमार्थ स्वरूप क्योंकि कैसा है वो रज्जुहात स्थानीय है और उसको कैसे बोध कराऊंगा जिससे वहां कराते हो निरम रजता नायम सर्प उसी प्रकार यहाँ पर भी सर्प आदि स्थानीय उक्त स्थान निराकरण शब्द जो सर्प स्थानीय भूता स्थान पहले वर्णन हो गया जागरण स्वप्न सुषुप्ति उन्हीं का निषेध के द्वारा उस परमार्थ सर्वरज स्थानीय आत्मा का चौथा प्रयुक्त परमार्थत्व ने जो कथन कर रहा हूँ उसका प्रतिपादन करेंगे नान्त प्रज्ञम न बहिष प्रज्ञम लोभ प्रज्ञन न प्रज्ञान घन न प्रज्ञन प्रज्ञम अदृष्टम व्यवहार अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेशम एकात प्रत्यसारम प्रपंचोपशम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मनते स्वत्ता उसी को लोग चौथा करके मानते हैं चौथा करके मानते हैं चौथा है या ना बोलो वो चौथा भी नहीं है वो तीन के दृष्टिकोण से लोगों ने उसको चौथा कह दी बस इतना ही है मनते ध्यान करके शब्द ये प्रयोग कर दिया चतुर्थम मेरा नहीं बोल रहा है चतुर्थम मनंत ऐसे विद्वान पुरुषों ने उसको चतुर्थ दृष्टिया कथन कर दिया है वही आत्मा है वही सबका विज्ञ है प्रज्ञम न बहिष्कम नो बहत प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न प्रज्ञम अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अवपदेश्यम मयेकात्म प्रत्यसारम प्रपंचोपशम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मनते सात्मा सविज्ञेय नाम का ये जो आत्मा है स्वरूपता वह आत्मा वास्तव में अंत प्रज्ञ नहीं है तेजस नहीं है न वहिष्ठ प्रज्ञम वह विश्व भी नहीं न उभय प्रज्ञम न बाह्य न अंत ऐसा स्थिति कौन होता है, है? जोड़ी न बाहर है न भीतर है ऐसी अवस्था कौन सी अवस्था है अवस्था अर्ध सुषुप्ति योग निद्रा अवस्था ये सारी चीजें नौ वैध प्रज्ञम के निषेध और सोया भी नहीं जगा भी नहीं है स्वप्न में भी नहीं है सोया भी नहीं है जगा भी नहीं स्वप्न में ही देख रहा तो मूर्छित अवस्था में ऐसे तो रहते हैं लोग मूर्छा होता है में क्या होता है सोया हुआ होता है क्या ये नहीं कहेगा मैं सोया था मूर्छित है तो कहेगा उसके अलग एक अवस्था विशेष है वो मूर्छा अवस्था इसी प्रकार अर्ध सुषुप्ति में अर्ध सुषुप्ति काल में भी यही होता है न जगा है न स्वप्न देख रहा है न सोया है से नोबलित प्रज्ञा मोबित प्रज्ञ मूर्छाद्य अवस्था और सुषिप्त अवस्था योग निद्रावस्था इत्यादि अवस्थाओं में वो माना जाता है जो आत्मा वह भी वास्तविक स्वरूप नहीं है आत्मा का न प्रज्ञान घनम यह सुषिप्त निषेध करती है और प्रज्ञान घन में सुषुप्ति कहते को भी हो नहीं है एक साथ सभी वस्तुओं के प्रकाशक रूप से वह प्रज्ञ कहते ऐसा भी नहीं न प्रज्ञम न अप्रज्ञम अर्थात भाषक है ऐसा भी बात नहीं है ईश्वर करके भी आप ग्रहण नहीं करना उसको वो भी ईश्वर का और जड़ ऐसा भी नहीं कहना घटादि के समान न अप्रज्ञम उसके विपरीत रूप से वह अप्रज्ञ है ऐसा भी न कहे तो फिर क्या है वह अदृष्टम वह तो अदृश्य है किसी भी इंद्रियों के द्वारा वो ग्रहण हो नहीं सकता अतएव अव्यवहारी जो दृश्य होगा वो व्यवहार है जो दृश्य ही नहीं है उसका व्यवहार क्या होगा इसलिए वो अव्यवहार्य है व्यवहार्य नहीं है शब्द आदि के व्यवहार के योग्य नहीं है तो कर्मेंद्रियों का विषय हो जाए तो वो भी नहीं अग्राह्य कर्मेंद्रियों से उसे ग्रहण करने योग्य नहीं है ज्ञानेन्द्रियों का भले अदृश्य हो मैंने ज्ञानेन्द्रियों का विषय न हो उनसे व्यवहार करने योग्य भले ना हो किन्तु कर्मेंद्रियों का तो विषय हो सकता है कद वो भी नहीं है अलक्षणम और कोई लक्षण कोई हेतु कोई लिंग नहीं है जिसके द्वारा अनुमान करके आप अनुमेय रूपेण ब्रह्म को ग्रहण कर सके वह अनुमेय भी नहीं है अलक्षण कत चलो ये सब मन का तक का आप निषेध कर दे बुद्धि से तो इसको चिंतन कर लूंगा कथनी अचिंत्यम बुद्धि का भी विषय नहीं है अतएव अव्यपदेश इसलिए किसी प्रकार से उसका उपदेश हो ही नहीं सकता सब निषेध करके आप एक भाव प्रदान निर्देश कर रहे हैं एकात प्रत्यसारम एकात प्रत्यसारम एक एव आत्मा हम जागृत सुषुप्ति शोन भूतो अस्मी अनुसृतम अनुस्यूतम भवती तत् एकात प्रत्यसारम एकमेव आत्मा जागृत काल प्रत्यय विषय जागृत काल का प्रत्यय का ज्ञान का दृष्टा भी था सुषुप्तिकालीन स्वप्नकालीन सभी प्रत्ययों का सर्वत्र अनुस्यूत और स्वरूप आपका नहीं हूं ऐसा जो आपको अनुभव होता है उसको कहते हैं एकात्म सारम अथवा आत्म संबंधी प्रत्यमेव सारम प्रमाण ये जो आत्म प्रत्यय हो रहा है मैं हूं यही एकमात्र प्रमाण है और कोई प्रमाण नहीं है इस आत्मा का उसे कहता है इसी आत्मा को कहते हैं एकात्म प्रत्यसारम प्रपंचोपशमम जब एक एव अद्वितीय आत्मा है फिर तो प्रपंच कहाँ से रहेगा इधर प्रपंचोपशमम प्रपंच का उपशम रूप है वो अतः शांत है वहां विक्षेप नहीं आवरण नहीं बल नहीं कुछ नहीं शिवाम इसलिए कल्याण स्वरूप है ऐसा जो तत्व है वो अद्वैत ऐसी आत्मा को ही तत्वता कहा कि भाई अन्य तीन पादों की अपेक्षा से उसको चौथा मानो मनते ऐसा वह जो तुरी शब्द के द्वारा लक्षित वह आत्मा ही विज्ञेय है वही विशेष रूप से जानने योग्य है सामान्य रूप में सभी जानते मैं हूँ मैं आत्मा हूँ मेरी आत्मा आती जाती है लोग बोलते भी है ना मर जाता हूँ तो मेरी आत्मा यहाँ से वहां चली जाती है इसलिए सभी जानते हैं कि आत्मा है और आत्मा आती जाती है ऐसे जानते एक अनुवर्त कर लेते हैं थोड़ा आत्मा आती जाती है मान लेते हैं लेकिन मान तो रहा है कि आत्मा है इसे सामान्य रूप में जान रहे हैं कि हम आत्मा है ये तो मालूम है लेकिन उसको विशेष रूप से जानना है यही जानना है विशेष ना कि वो न अंत प्रज्ञ है न बहिष्प्रज्ञ है न वेद प्रज्ञ है इत्यादि रूपेण उसको जानना अग्राही होने से गमना गमन वाला भी नहीं है अदृश्य होने से चक्षुराधि किसी इंद्रिय का विषय नहीं हो सकता अतएव अव्यवहार्य अव्यपदेश अचिंत्य अननुमेयी है इत्यादि रूप में नहीं उसको जानना यही विशेष रूप से जानना है ऐसे जानकर तद रूप ही इस विशिष्ट भाव को त्याग करके उस अविशिष्ट भाव का अनुभूति अविशिष्ट है किंतु विशेष है अविशिष्ट विशेष स्वरूप का अनुभूति करना है विशिष्ट और सामान्य दो का तुम अनुभव कर रहे हैं विशिष्ट रूपे में भी अनुभव करो मैं देख रहा हूँ एक विशिष्ट आत्म रूप में अनुभव कर रहा हूँ और सामान्य रूप से मैं आता हूँ मेरी आत्मा आती है जाती इत्यादि रूप में आत्मा का अस्तित्व को स्वीकार करके व्यवहार कर रहा है इसलिए विशिष्ट और सामान्य को जानता है और विशिष्ट विशेष को ग्रहण नहीं कर पा रहा है अतएव कद स आत्मा सविज्ञेय भाषिकार अभी मंत्रार्थ में नहीं जाएंगे काफी बीच में अभी शास्त्रार्थ बाकी है आह नांत प्रम इत्यादि अवतरणिका धीरे थे अवतरणिका के बाद फिर शास्त्रार्थ आरम्भ होता है नो आत्म चतुष्पात्म प्रतिज्ञा पाद त्रय कथन चतुर्दश अंत प्रज्ञा व्यो अन्य सिद्ध है नात प्रज्ञम इत्यादि प्रतिषेध अनंत पूर्व पक्षी कहता है देखो आपका चार चीज है कह दिया ठीक है और तीन चीज बता दिए फिर चौथा बताने के लिए अलग वाक्य क्यों प्रयोग कर जो जो तीन से भिन्न है वो चौथा है वाक खत्म तीन बता दिए चार में से तो तीन से जो भिन्न होगा चौथा होगा कि नहीं होगा तो उस अलग से क्यों निर्देश कर रहे हो नाम तब्र के नंबर इस प्रज्ञा व्यर्थ ही तो बोलना तो कहते हैं ये देखो आत्मा चतुष्पाद प्रतिज्ञा यो आत्मा चतुष्पाद ऐसा आपने प्रतिज्ञा किया करने के पश्चात आद त्रय कथन के द्वारा चतुर्थ से अंत प्रज्ञा अन्य सिद्ध है जो चौथा है वो क्या है बहिष प्रज्ञा से मिलने ये तो स्वतः सिद्ध हो गया अतएव नात ब्रह्म इत्यादि वाक्य का जो प्रयोग किया आपने प्रसिद्ध वाक्य वो व्यर्थ है अनर्थक ऐसे सिद्धांत ऐसे न कहो भाई सर्वादि विकल्प प्रतिषेध नहीं रज सर्व प्रतिपत्तिवत आत्मा तुरीय प्रतिपादित दोनों में अंतर है तीन से भिन्न जो चौथा होता है ना ऐसे जब कहोगे आप वह चौथा इन तीनों में भी है ये निर्णय नहीं होगा ये जो तीन है जो विशिष्ट है यही वास्तव में विशेष रूप में ना चौथा है इससे अतिरिक्त कोई चौथा अलग नहीं है जो तीनों में थे अनुभव किया आपने तीन करके वही चौथा है लेकिन विशिष्ट रूप नहीं है ये कैसा पता चला जैसे तीन कलम रख दो चौथा रख दे तीन से नहीं कलम है लेकिन वो जो चौथा कलम है वो तीन में अनुसूचित है क्या वो तीनों में भी चौथा कलम रहेगा आप तीन के नाम लेकर तीन बता दिया और उसे बिन कह दूंगा हाँ, तो वो तो होगा इससे अतिरिक्त है वो और इनमें वो नहीं है और ना ये उनमें है ये भी तो है ना ये तीन चौथे में है क्या जो तीन कलम है वो चौथा कलम में रहेगा क्या ना वो चौथा तीनों कलम में कलमों में अनुसूचित है दोनों तरफ से नहीं है इसलिए तीन का कथन कर चुप हो जाऊंगा तो यही हालत हो जाएगी हमारी ये आत्मा इन तीनों से अलग है ये तीन भी सत्य है वो चौथा भी सत्य हो ये हो जाएगा गड़बड़ जैसे तीन कलम सत्य है उससे बिना चौथा कलम भी अपने आप में सत्य है और न चौथा इन तीन में अनुसूत है न तीन का अधिष्ठान चौथा है ऐसा भी नहीं है ना जैसे तीन का कथन करके मौन हो जाते एक दृष्टान लेते चार घड़ा है इनमें से तीन घड़ा अलग कर दो तो अलग हो गया वो चौथा दिन हुई है उसको बोलने की जरूरत ये चौथा है करके इस तरह का व्यवहार हम करते हैं फिर तो ये अवस्था त्रय सत्य हो जाएगा इसलिए कहते हैं कि भाई देखो सर्पाद विकल्प का प्रतिषेध के द्वारा ही रज्जु स्वरूप प्रतिपत्ति होता रज्जु के स्वरूप की प्रतिपत्ति होती है बल्कि सर्पादि से भिन्न रज्जु नहीं है जो सर्पादि प्रतीत हुआ है उसे भिन्न ही रज्जु है कि रज्जु ही सर्प रूपेण प्रतीत हुआ था अतएव प्रतीत हुआ सर्प रज्जु से भिन्न नहीं है और सर्प से भी रज्जु भी नहीं जो सर्प देखा हो वही रज्जु है जो रज्जु है वही सर्प रूपेण विवर्त है अतएव ये वक्त जो है सर्प निषेध करने से क्या होता है स्वरूप का बोध होता है रज्जु का जो विशिष्ट स्वरूप के बीच में सर्प दिखाई दिया था उसका निषेध किए बिना रज्जु का स्वरूप बोध नहीं हो सकता सर ये नहीं पता चलेगा रज्जु सत्य है ये सर्व सत्य कौन सत्य है यदि इतना कह दो तो आप सर्प से भिन्न रज्जु है इतना यदि कह देता हूँ जिससे ये निश्चय नहीं होता कि सर्प सत्य था कि मिथ्या था और रज्जु सत्य था कि मिथ्या था ये निर्णय कैसे होगा आपको ये कहना पड़ेगा आपको सर्प नहीं है रज्जु ही है या सर्प नहीं है इतना ही कहने से आपको ज्ञान हो जाएगा रज्जु ही है से निषेध के बिना अन्य जो अधिष्ठान का सर्व सत्ता निर्णय नहीं हो सकता इसलिए कहते हैं जिस प्रकार सर्प निषेध के द्वारा ही रज्जु की सर्प प्रतिपत्ति होती है ठीक उसी प्रकार से प्रतिपादित तीन अवस्था में जो अनुसूत आत्मा था जिस आत्मा में तीनों अवस्थाएं मिथ्या कल्पित थे वही आत्मा को हमें चौथे कर्म में कथन करना है भिन्न कथन नहीं करना है तीन से भिन्न है ऐसा मैंने कथन करना जो तीन में आत्मा था वही चौथा पाद तुरय रूप कथन करना ये तीन अवस्थाओं के भान हो रहे थे उस अवस्था में जो था आत्मा वही आत्मा को तुरय प्रतिपादित उसी आत्मा को तुरी रूपेण प्रतिपादन करना इच्छित है जैसे तत्व जो तुम हो वही वह हो ये कहना पड़ेगा तुमसे भिन्न है ऐसे कहने से थोड़ा हो जाएगा तुम ब्रह्म कहा से हो जाओगे यदि इतना कहते तो हमसे तत् भिन्न है तुम से भिन्न तत् है ऐसे कह देते तो हम ही तत् हो जाते हो क्या नहीं हो सकता ये बताना पड़ेगा जो तुम में अनुस्यूत आत्मा है वही तत्व में अनुस्यूत आत्मा होने से तुम वही सार हो ये कहना पड़ेगा तुम भिन्न नहीं हो यह अद्वैत अनुभूति स्वरूपानुभूति जिसे कहते हैं वो आरोपित सकल विशिष्ट का निषेध किए बिना केवल तद भिन्न ग्रहण होकर के ज्ञान नहीं हो सकता इसलिए दृष्टान दिया तत्वसी यदि विलक्षण तुरय अन्य दिखा रहे देखो यदि मान लेते हैं आपके पक्ष के सब पूर्व पक्ष अनुसार हम चलते हैं और विचार करते हैं कि तीन अवस्थाओं से विलक्षण है कौन वो तुरीय और उन तीनों अवस्थाओं से अन्यत भिन्न भी है तब तो तत्प्रतिपत्ति द्वार अभाव समस्या ये होगा उस तुरी के प्रतिपत्ति कहा से करोगे कौन कराएगा उस तुरी का प्रतिपत्ति ये तीन से विलक्षण है हमने कह दिया तीन से विलक्षण है और तीनों से भिन्न भी है विलक्षण अन्य ऐसा जो होगा उसको बोध करने के लिए कोई प्रमाण वगैरह तो चाहिए वो कहा है कैसे बोध करेंगे कि जो भी आपके पास प्रमाण प्रमेय व्यवस्था है वो सब कहा है ये तीन में ही ना जागृत स्वप्न इसी में तो है जो कुछ भी प्रमाण प्रमेय व्यवहार हमारे पास उपलब्ध है वो सब तीन में ही है तो इसलिए तीन में जो चीज है जो प्रमाण प्रमेय व्यवहार वो चौथे में लागू नहीं हो सकता क्योंकि वो इससे विलक्षण है ना उसको कैसे ग्रहण करेगा जैसे घट से विलक्षण आपका आकाश है तो रूप से विलक्षण स्पर्श है रूप से भिन्न है तो आपको क्या करना पड़ेगा रूप को जिस प्रमाण से ग्रहण करते हो उससे स्पर्श को ग्रहण करोगे जो जिससे विलक्षण होता है भिन्न होता है उसके लिए भिन्न प्रमाण इस्तेमाल करते हैं तो सामान्य व्यवहार में सभी को मालूम है कि चक्षु से मैं रूप को ग्रहण करता हूँ और रूप से विलक्षण होता हो जो रूप से भिन्न है ऐसा स्पर्श को मैं चक्षु से ग्रहण किसे ग्रहण करोगे तभी दूसरे प्रमाण से ग्रहण करते हो ये तो लोक व्यवहार सिद्ध है अतएव जो इन तीन अवस्थाओं से विलक्षण होता हुआ तीन अवस्थाओं से भिन्न यदि मानोगे उस भिन्न वस्तु को ग्रहण करने के लिए कोई ऐसा प्रमाण ढूंढना पड़ेगा जो तीनों में काम नहीं आता है ये जागृत सब सुश्रुति में जो आपका व्यवहार का विषय नहीं हो ऐसे कोई प्रमाण ढूंढो जिससे वो विलक्षण वस्तु और अन्य वस्तु का बोध हो सके ऐसा कोई है नहीं जागृत शब्द सुषुप्ति से में अप्रयुक्त प्रमाण जो कि उस विलक्षण आदि को ग्रहण कर सके ऐसे किसी को प्राप्त इसका ज्ञान है ही नहीं इसलिए कहते हैं तब प्रतिपत्ति ऐसा जो तुरी है जो तीन से विलक्षण तीन से भिन्न उस तुरी का प्रतिपत्ति के लिए कोई भी प्रमाण नहीं रहा द्वार अभाव शास्त्रोपदेश अनर्थ्यम शून्यता निर्वाह शास्त्र आदि का उपदेश ही व्यर्थ हो जाएगा क्योंकि इसके द्वारा भी उसका बोध नहीं हो सकता क्योंकि ये भी जो बोध कराएगा वो चार सब शब्द अंतराल वस्तु को बोध करा सकता है क्योंकि शब्द क्या है हमारे जागृत है श्रोत्र इंद्रिय का बोधा वस्तु है ये भी तीन के अंदर ही आ रहा है इसलिए जो शास्त्र है वो शब्दमय है और शब्द क्या है श्रोत इंद्र का मामला है और श्रोत इंद्र कहा है आपका जागृत में है इधर जागृत अंतर्वर्ती हो गया ना शास्त्र इसलिए ये भी उस तुरी का बोध नहीं करा सकता क्योंकि जो तुरी है वो जागृत से विलक्षण है जागृत से भिन्न भी है इस जागृत अंतर्वर्ती प्रयुक्त जो प्रमाण पता श्रोत्र आदि भी के माध्यम से शब्द को लेकर के शब्द से स्तुरी का बोध नहीं करा सकते यदि बोध हो गया फिर तो विलक्षण नहीं रहा फिर देख कहना पड़ेगा जागृत भी वो आत्मा है तुरी तभी तो मैं शब्द से बोध करा ले रहा हूँ शब्द से मैं इसे बोध करा सकता हूँ क्योंकि वो जागृत में भी है जागृत में है पर जागृत से विलक्षण है क्या जो जागृत में रहेगा वो जागृत से विलक्षण हो सकता है इसलिए कहते कि देखो फिर तो शास्त्र उपदेश करना ही व्यर्थ हो जाएगा और तो एक और दोष है विश्व वो जो तुरी क्या है ये कहना पड़ेगा तुरी शून्यम भवती ये कहना पड़ेगा ये आपत्ति रज्जुरी सर्पादि भी विकल्प मारा स्थान आत्मा एक एवं अंत प्रज्ञात्वेन विकल्प्य यदा ऐसा जब हो तदा अंत प्रज्ञादित प्रतिषेध विज्ञान प्रमाण सदारम आत्मनि अर्थ प्रपंच निवृत्ति लक्षण फलम परिसमाप्त मिति तुर्याय प्रमाणांतरम साधनांतरम व न मृत्यु यदि मान के चलोगे जितने समय तक मेरे को सर्प दिखाई दे रहा था उस समय में भी रज्जु ही था ये नहीं मानोगे तो सर्प निषेध के बाद रज्जु का बोध नहीं हो सकता ये आपको मानना होगा सर्प प्रतीति से पूर्व में रज्जु है सर्प प्रतीति का निषेध उत्तर काल में भी रज्जु है अतएव सर्प प्रतीति काल में भी रज्जु था अतएव सर्प निषेध करने से हमें रज्जु का भान हो गया ये मानना पड़ेगा इसी प्रकार से जागृत अवस्था काल में भी आत्मा था स्वप्न अवस्था काल में भी आत्मा ही था सुषुप्त अवस्था काल में ही आत्मा ही था ये मानना पड़ेगा जो जिस अवस्था में नहीं है उसका निषेध कर पर उस वस्तु का बोध नहीं हो सकता ना सर्प अवस्था में भी रज्जु नहीं होता सर्प का निषेध करने पर रज्जु दिखेगा नहीं हो सकता इसलिए मानना पड़ेगा कि सर्प अवस्था में भी रज्जु था इसी प्रकार से जागृत अवस्था का निषेध होने पर आत्मानुभूति होना है तो हमें मान के चलना पड़ेगा जागृत अवस्था में भी आत्मा है वही करे यदा यदा को पहले ले लेंगे हम यदा रज्जु सर्पादि विकल्प माना जैसे रज्जु सर्पादियों के माध्यम से विकल्पित होता और प्रतीत होते रहता है ठीक उसी प्रकार से स्थान ये तीनों स्थानों में तीनों भोग को भोगता हुआ तीनों प्रकार की तृप्तियों से युक्त वो जो आत्मा तीन करके वर्णन किया गया था वो तीन नहीं है आत्मा एक ही विश्व तेजस के नाम से हमने तीन आत्मा का वर्णन किया पहले तीन स्थान में तीन आत्मा है